यह प्रवचन हिज होलीनेस राधा गोविंद गोस्वामी महाराज द्वारा श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद अध्याय 21 के श्लोक एक से चार पर दिया गया हरिद्वार में वर्ष 2001 में एक से सात मई तक आयोजित बेड़ू गीत सप्ताह के अंतर्गत तीन मई की प्रातःकालीन बैठक में द्विजकुलभ्रष्टशरः सरीमहिघ्राम् मधुपतिरवगाह्य चानयङ्गः सह पशुपाल पशुपालबलश्चुकूजवेणुम् तद्भजा स्त्रियया श्रुत्या वेणुगीतं स्मरोदयाम काश्चित् परोक्षम् कृष्णस्य स्वसखिभ्योन्वर्णया तद्वर्णयितुमारब्धः स्मरन्त्यः कृष्णचेष्टिताम् नाशकम् स्मरवेगेन विक्षिप्तमनसो नृप बर्हापीडम् न तव बपुः कर्णयोः श कनककपिशं वैजयन्तीं चमाला लन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दान शरणम् स्वपदरमणम् प्राविशदगीतकीर्तिः तो हाँ? सर्दम् वर्णयित्वा वर्षावत् तत्र श्रीभगवत्क्रीडाविशेषणः इत्थम् इत्यादिना यावत् समाप्ति यहाँ तक श्री सुखदेव गोस्वामी शरद ऋतु का वर्णन किए जैसा हम लोग पहले पढ़े वर्षा का वर्णन करने के बाद वे वर्षाकालीन श्री कृष्ण लीला का वर्णन किए उसी प्रकार शरद का वर्णन करके अब शरद में होने वाली भगवान के विशेष लीला का वर्णन करने जा रहे हैं इत्थम इत्यादि से प्रारंभ करके पूरे अध्याय की समाप्ति इत्थम एवं भूतम वनम अच्युत न्यविशम इस प्रकार के वन में श्री कृष्ण ने प्रवेश किया कथम भूतम वनम सरल स्वच्छ जलम जिस वन के जल सरोवर या नदियों में इकट्ठा जल स्वच्छ हो चुका कैसे शरदा शरद के कारण शरद स्वच्छ जलम शरदा कारण न स्वच्छानी जलानी जस्मिन तत्वनम न्याविशद तो भगवान के लीला के उपकरण के रूप में सबसे पहले जलवायु का वर्णन किया जा रहा है तत्र तदुपकरण आदव मनोहर जलवायु समाश्रयत्व स्वतश्च मनोहरतया वनम अनुबदती न डेढ़ श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी वृंदावन का वर्णन कर रहे हैं और वृंदावन में किस तरह सुंदर जल है तथा सुंदर वायु है इसका वर्णन कर रहे हैं तो जलवायु का तो सबसे पहले जल का वर्णन कर रहे तत्र जलस्य मनोहरत्व स्वच्छत्व न स्पष्ट में स्वच्छ जलम सुअच्छ जलम वृंदावन के सरोवरों का नदियों का जल स्वच्छ हो गया तो स्वच्छ कह दिया गया तो इसे स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि उस जल का मनोहरत्व प्रसिद्ध स्पष्ट है मनोहर जल कब मनोहर होता है अच्छा लगता है जब जल कुछ कुछ शीतल हो और उसमें तो कोई गंदगी ना मिली हो तो वह स्वच्छ माना जाता है इस प्रकार शरद काल के चलते वृंदावन का जल स्वच्छ हो गया ये जल का वर्णन और निर्मल न एवं सहज गुणा ही व्यक्त है जब निर्मल कह दिया गया जल को तो जल के जितने भी गुण होंगे सब समझ लेना चाहिए सुस्वादु होना देखने में भी बिल्कुल क्लियर लगना तो सारे गुण सहज गुणा भी व्यक्त है स्वच्छत्व वह सहज गुणा भी व्यक्त है कभी कभी बहुत बातों का वर्णन करने के लिए केवल एक ही वाक्य एक ही शब्द कह दिया जाता है उससे समझ लेना चाहिए जल के जितने भी गुण हो सकते हैं सारे गुण विद्यमान थे वृंदावन के जल में तो एक शब्द स्वच्छ कह करके यह बात व्यक्त कर दी गई है अच्छा, जल का वर्णन हो गया वायु का वर्णन पद्माकर सुगंधिना वायुना वातम तद्वनम पद्माकर सुगंधि वायु के द्वारा वातम व्याप्तम वह वन था वातम का अर्थ व्याप्त वायुना वायु के द्वारा कथम होते न वायुना पद्माकर सुगंधिना वायुना पद्माकर अर्थ है सरोवर वृंदावन के जो सरोवर हैं उनमें कमल खूब गह गह भरे हुए हैं तो ऐसे सरोवर को पद्माकर कहते हैं पद्मा नाम आकर आश्रय पद्माकर वृंदावन के सरोवरों में कमल खूब खिले हुए हैं चारों तरफ और कमल के सुगंध को लेकर के हवा चलती है तो इसलिए हवा की विशेषता बता रहे पद्माकर सुगंधिना वायुना पद्माकर के सुगंध को लेकर चलने वाली हवा से पूरा वृंदावन व्याप्त है तदेक व्याप्तम श्री श्रीधर स्वामी जी कहते हैं एकमात्र कमल की सुगंध से भरा हुआ वृंदावन इस प्रकार की हवा से भगवान के लीला का उपकरण बताया जा रहा है एक तो सहज ही वृंदावन दिव्य है चिन्मय है और उस पर भी स्वाभाविक सब जगह प्रस्फुट पद्ममय सरोवर है खिले हुए कमलों से सरोवर भरे पड़े हैं और उसकी उस, उस कमलों के सुगंध को लेकर हवा चारों तरफ जा इस जलवायु का वर्णन तो इसमें सुगंध का वर्णन किया गया और वातम का वातम का फिर व्याप्त ये निश्चित समझना चाहिए कि यदि जोर की हवा चले तो सब जगह व्याप्त नहीं कहा जाएगा मंद समीर चल रहा है इसके द्वारा सिद्ध हुआ और चूंकि सरोवरों से टकरा करके हवा आ रही है इसलिए शीतल समीर तो हवा के तीन गुण हैं मंद शीतल और सुगंधित हवा वृंदावन में इस प्रकार की हवा व्याप्त है चारों तरफ और ऐसे वन में अच्युत न्याविशत निकराम अविशत अविशत का अर्थ है प्राविशत प्रवेश किए अगो गोपालक स का अर्थ सात गो का अर्थ गौ और गोपालक गौ का पालन करने वाला गोपाल शब्द कह दिया तो गोपालक क्यों कहा जाता है ये छंद पूरा करने के लिए कह दिया गया अथवा क कोमलता का वाचक भगवान के साथ ही बड़े कोमल कोमल शरीर वाले हैं तो गोपालक जैसे बाल को बालक कहते हैं बाल भी कहते हैं और बालक भी कहते हैं जैसे गोपाल और गोपालक स गो गोपाल का छोटे छोटे बच्चों के साथ भगवान प्रवेश कर छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सुमेरो मदन गो गोपालक शब्द और छिपा क्यों कहा जा रहा है श्री कृष्ण अपने सौंदर्य से रसिकता से गौ के प्रति स्नेह से वनवासियों के प्रति स्नेह से कभी च्युत नहीं होते हैं भगवान वृंदावन के जीवों को भूल नहीं पाते हैं उन्हें सुख देने के लिए गोचारण का बहाना बनाकर प्रवेश कर रहे हैं विहार करने के लिए इत्थम सरत स्वच्छ जलम पद्मा कर सुगंधि न्यविशद वायुना वातम सगो गोपाल कोचित सगो गोपाल का गोभी गोपाल का सहित अच्युत कृष्ण इत्थम एवं भूतम वनम शरत स्वच्छ जलम पद्माकर्ष गंधिना वायुना वातम न विषम श्री सुखदेव गोस्वामी बहुत ही भाव से वर्णन कर रहे हैं वायुश्च पद्मानाम आकर प्रस्फुट पद्ममय सरोवरादि तेन सुगंधिना तेन सौलभ्यण च वातमिति च मानदेन च बनस्य तो इस प्रकार वन का जल का हवा का वर्णन किया गया इसके द्वारा जितने भी भगवान के लीला के उपकरण वृंदावन में है सबका वर्णन इसमें आ चुका है सामान्य रूप से ऐसे वन में श्री कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं और प्रवेश करके उन्होंने क्या किया किनारे ही खड़े नहीं हो गए वृंदावन में अवगाह्य पूरा जहाँ तहाँ जाते हैं अपना ऐश्वर्य प्रकाशित करके भगवान जत्र तत्र सर्वत्र वृंदावन में घूम गए अवगाह्य अवगाह्य अगले श्लोक में आया कुसुमित बनराजी द्विज द्विजकुल घुष्ट सरह शरीर महिद्रम मधुपतिरवगाह्य चारयङ्गः सह पशुपाल पशुपालबलश्चूकूजरेणु वृंदावन में प्रवेश करके जत्र तत्र श्री कृष्ण बांसुरी बजाने लगे सह पशुपाल बलश्चू पूज वेणु इस पर श्रीपा श्रीधर स्वामी श्रीपा सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं कि सखाओं के साथ और बलराम जी के साथ ही बांसुरी बजाने लगे कृष्णा चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं नहीं कृष्ण के ही बांसुरी का वर्णन है इसलिए केवल कृष्ण बजा रहे हैं वो गाह चारयन में उनका साथ है तो सीता सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं कि चाहे भी हो सकता है कि सभी बजा रहे हों अन्यथा गाह चारयन सह पशुपाल बल सह पशुपाल बल पशुपाल बलदेवेन च सहित मधुपति श्रीकृष्ण गाचारयन कुस्मित बल राजी सूक्ष्म भ्रीम द्विजकुल घुष्ट सर सरिम महिध्रम बनम का विशेषण है इतना लंबा शब्द सुनिए इसको कुसुमित वनराजिशु वनराजी मतलब वृक्ष कुस्मित वृक्षों पर सुस्मिणा मत्ता नाम भृंगा नाम द्विजा नाम पक्षिणाम चक्कुलय घुष्टान शब्दिता सरांसी सरिता नद्य महिद्रा पर्वता जस्मिन तत्वनम वृंदावन का वर्णन कह रहे हैं सभी वृक्ष कुस्मित हैं और सब सुगंधित पुष्प है खिले हुए हैं और कुस्मित वृक्षों पर उन पुष्पों की सुगंध से लुप्त होकर के उन पर बैठे हैं भृंग भृंग का अर्थ भौरा और ब्रिज पक्षी भौरों के और पक्षियों के समूह से घुसकानी शब्दता शब्दित है सब जगह आवाज आ रही है सरोवर में आवाज टकरा रही है अथवा सरोवर में जल पक्षी बोल रहे हैं सरिताओं में और पर्वतों पर सब जगह वृंदावन में पक्षी बोल रहे हैं विविध प्रकार से और भृंगों का पक्षियों का विशेषण बता रहे हैं मत्ता नाम सब मत मत्त का अर्थ है आनंद में विभोर आनंद में देह की और सबकी शुद्धि भूले हुए हैं भगवान के प्रवेश करने से अथवा वृंदावन के सहज ही सुगंधित पुष्पों के पराग से आनंद में विभोर है आनंद मुग्ध है और ऐसे पक्षियों और भौरों के आवाज से सरोवर गुंज रहा है नदियां जमुना आदि गुंज रही हैं और गिरिराज जी गोवर्धन आदि पर्वत सब घूसते हैं जो लोग वन और पहाड़ में गए हैं समझेंगे किस तरह पक्षी बोलते हैं तो उनकी वो ध्वनि टकराती है सरोवर से या नदी से या पर्वतों से चारों तरफ अपनी अपनी भाषा में सब बोल रहे पक्षी जब खुशी में रहते हैं तो बोलते हैं गाते हैं घुष्टित वृंदावन है ऐसे वृंदावन में श्री कृष्ण अवगाह्य अंत प्रवेश्य भीतर प्रवेश करके बेणु चुकूज वन बहुत घना है और इसलिए बेणु बजाने लगे बेणु क्यों बजा रहे हैं इस पर सिर्फ सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि भगवान इसलिए बेणु बजा रहे हैं कि तक निजावस्थान सूचयत जहां तहां वे अपनी अवस्थिति को सूचित कर रहे हैं कि मैं यहां हूं बांसुरी बजा बजा कर अथवा वृंदावन का प्रत्येक जीव प्रत्येक वृक्ष प्रत्येक स्थल चाहता है कि श्री कृष्ण यहाँ बांसुरी बजाओ इसलिए सब जगह जा करके वेणु चुकू जा वेणु बजाते हैं मन में उच्च स्वर से बोलना पड़ता है कि मैं यहाँ हूँ कुछ विशेष शब्द बोलते हैं गोप लोग सिटी बजाते हैं मैं यहाँ हूँ और गऊ में प्रधान गाय जो होती है तो उसके गले में घंटी बांधते हैं जो तो टुन टुन टुन टुन उस गऊ की अवस्थिति को सूचित करता है कि यहाँ पर गऊ है यदि घंटी न हो तो गोप कहाँ खोजेंगे उनको आज भी प्रत्येक झुंड में एक घंटी बंधी रहती है सहज पता लगता है गौ इधर गई और श्री कृष्ण चूंकि सब समय गौओं के साथ ही नहीं रहते अथवा गौ गौ के साथ तो हैं ही लेकिन इसके साथ तो जितने जीव होते थे उतने रूप में सबके साथ हो जाते थे और प्रत्येक व्यक्ति को यही भावना रहती थी कृष्ण मेरे साथ और कभी कभी श्री गोपीजन वन में आ जाते थे पुष्प चयन के बहाने तो श्री कृष्ण एकांत में उनसे मिलते थे बातें करते थे और विविध प्रकार से प्रियतम की सेवा करते थे माला बनाना स्वयं संवाहन करना घर से कुछ प्रसाद लेकर के आते थे कृष्ण को अर्पण करते थे और कृष्ण या तो स्वरूप प्रकाश द्वारा भिन्न स्वरूप प्रकाश द्वारा उनके साथ होते थे अथवा कोई न कोई बहाना करके और अलक्षित हो जाते थे इसका भी वर्णन आएगा इस अनुदित तो अवगाह्य का अर्थ अवगाहन करके वृंदावन में सर्वत्र प्रवेश करके और बांसुरी बजाते थे कुस्मित बनराजी सुस्मि भृंग द्विज कुल घुष्ट सरस सरिन महिद्रम वृंदावन के दिव्य दृश्य का और भगवान के लीला के उपकरण का वर्णन शब्दों में किया गया है एक एक प्रकार के पक्षियों का जो नाद है वह अपने आप में आस्वादन का विषय है और लगता है कि जब पक्षी बोल रहे थे मधुर मधुर कंठ से तब श्री कृष्ण ने भी सोचा कि तब मैं भी बोलूं तो बोलने लगे इस पर सूरदास जी ने लिखा है कि जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाने लगे तो कोयल आदि सब लजा करके चुप हो गए कि इसके सामने तो हमारी कोई बोली मधुर नहीं इस पुस्तिका में पहला पद है तो मैं इसे कहूंगा अर्थ करूंगा कभी कभी गाऊंगा आप लोग सुनिए पहले गाने में क्या होता है कि आदमी ध्यान नहीं देता है लेकिन मूल पद सुनना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है जब हरी मुरली अधर धरी जब हरी मुरली अधर धरी अधर का अर्थ ओठ नीचे का जो होठ है उसको अधर कहते हैं जब श्री कृष्ण ने बांसुरी को अपने अधर पर रखा क्या हुआ व्यवहार तजे आरज पथ चलत न संक करी जब हरी मुरली अधर धरी जब श्री कृष्ण ने केवल मुख पर अधर पर मुरली रखा थोड़ा ही बजाया जैसे गोपियों पर क्या प्रभाव हुआ गृह व्यवहार तजे आरज पथ गृह व्यवहार सब छूट गया गृह व्यवहार क्या भोजन बनाना खिलाना लिपना पकना है सब छूट गया और आर्ज पथ भी छूट गया आर्ज पथ मतलब पति की सेवा पतिव्रत धर्म आदि ये सब और चलतन संग करें और चल दी कोई चिंता नहीं की कोई भय नहीं की बांसुरी की आवाज सुनकर कृष्ण के पास चल दी जब हरी मुरली अधर धरी गृह व्यवहार तजे यारज पथ तल शंक करी रास्ते में गोपीजन जा रही हैं तो पथ में पैर के शत्रु लग रहे हैं पैर के शत्रु है कंटक पद रिपु पट अटक्यो न संहारत उलटन पलट खरी इसका एक पद रिपु पद के चरण के शत्रु कांटे वस्त्र में लग रहे थे परंतु कभी भी गोपियों ने ये ध्यान नहीं रखा कि उनके वस्त्र कांटे से उलझ रहे हैं उलटी न पलट खड़ी कभी उलट करके देखी नहीं चलती गई चलती गई किसी के शिव सुत वाहन आई मिले हैं मन चित बुद्धि हरी और शिव जी के पुत्र के वाहन आया करके खड़े हो रहे थे मतलब मयूर शिव जी के पुत्र हैं कार्तिक के और उनके वाहन आया करके <laughs> खड़े हो रहे शिवसुत वाहन आए मिले हैं मनचित बुद्धि हरी श्री कृष्ण सबकी सबके मन को बुद्धि को चित्त को हर लिया शिवसुत वाहन आए मिले हैं इसका अर्थ यह है कि जब गोपियां कृष्ण के पास जा रही तो मयूर भी जहां तहां से भाग कर कृष्ण की तरफ जा रहे थे उनके भी मन चित्त को कृष्ण ने हरण कर लिया रास्ते में शिव जी के पुत्र के वाहन सब मिल रहे हैं और जितने भी वृंदावन में कीर सुख पक्षी कपोत मधु भंवरा कोयल आदि थे ये सब छिप गए छिपने का मतलब है कि ये सब अवाक हो गए कि मनुष्य भी इतना सुंदर बोल सकता है जब मनुष्य कोई सुंदर बोलता है जैसे खास करके स्त्रियां बहुत मधुर बोलती हैं तो कहते हैं कि वो पिक बयानी उसकी आवाज कोयल जैसी है लेकिन जब श्री कृष्ण बोले तो कोयल भौरा आदि सब हक्का वक्का हो गए इतना सुंदर आप नाद सूरदास जी कहते हो तो सब भाग गए घर उधर दूरी गए कीर कपोत मधुपिक सारंग सुधी विसरी उडुपति विद्रुमबिम्बखिसाने दामिनी अधिक डरी और भगवान जो बांसुरी बजा रहे थे इनके मुख को देख उस आवाज को सुन करके चंद्रमा का बिंब घट गया तो चंद्रमा इसी से आज तक घटते जा रहे घटते जाते हैं जब जब याद पड़ता है कृष्ण चंद्र के मुख का तो चंद्रमा लजा करके बिल्कुल घट जाता शोक हो गया है कि हमसे बहुत अधिक सुंदर कृष्ण है और बिजुली तो पीताम्बर को देख करके आज तक केवल थोड़ा सा प्रकट होकर के और लजा करके चली जाती है दामिनी अधिक डरी बिजली डर गई साहस नहीं होता है कि देर तक बादलों में रहेंगे मिली है श्याम ही हंस सुता तट आनंद उमंग भरी गोपियों के मन में यही मनोरथ है हंस सुता के तट पर हम कृष्ण से मिलेंगे हंस का अर्थ सूर्य और सुता का अर्थ है पुत्री तट का अर्थ तट सूर्य की पुत्री जमुना के तट पर हम कृष्ण से मिलेंगे सूर्य जी कहते हैं वही हुआ भी सूर्य श्याम को मिली परस्पर प्रेम प्रवाह ढरी जब हरी मुरली अधर धरी जब हरी मुरली अधर धरी गृह व्यवहार तजे यारज पथ गृह व्यवहार तन संग करी जब हरी चल तन संग करी जब हरी मुरली अधर धरी जब हरी मुरली अधर धरी पदरी पुपट अत क्यों न संहारते पद रिपुपत उलटन पलट खरी उलटन पलट खरी शिव सुत बाहन आई मिले मन चित बुद्धि हरी मन चित बुद्धि हरी जब हरी मुरली अघर धरी जब गए कीर कपोत मधुप गुरु गए सारंग का अर्थ हंस दूरी गए कीर कपोत मधुपति का दूरी गए सारंग सुधी विषरी सारंग सुधी विषरी उडुपति द्रुम बिंब खिषाने उडुपति द्रुम बिंब खिषाने दामिनी अभी कदरी राम को मिली परस परशुर व्रजस्त्रिययाश्रित्य वेणुगीतम् स्मरोदयम् काश्चित् परोक्षम् कृष्णस्य स्वसखीभ्यन्वर्णयन् तो श्री कृष्ण बांसुरी बजाने लगे इसके पीछे क्या भाव था कृष्ण का इस पर श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं कुस्मिता इति इदम च सर्वम कामोद्दीपकत्व न उक्तम वनम न्याविशदति प्राविशन पूर्व देव नित्य निदृशी लीला ज्ञेय बारम्बार यह वर्णन आ रहा है कि श्री कृष्ण ने वृंदावन में प्रवेश किया वृंदावन में प्रवेश किया तो आवृत्ति से यह सूचित हो रहा है कि श्री कृष्ण की यह नित्य लीला थी प्रतिदिन की प्रतिदिन बड़े ही उत्साह के साथ प्रवेश करते थे और प्रत्येक दिन कुछ न कुछ विशेषता रहती थी प्रवेश प्रत्येक दिन कुछ न कुछ नई नई लीला करते हुए प्रवेश करते थे एवं चुकुज अनुवर्णयन इत्यादि कम अग्रे अपयूज्यम और श्री कृष्ण चुकुज बांसुरी बजाते थे और गोपियां उस बांसुरी के विषय में वर्णन करने लगती थी तो यह भी रोज की लीला समझनी चाहिए प्रतिदिन इसी तरह बांसुरी बजाते थे और श्री गोपियां बांसुरी के विषय में वर्णन करती सौ गो गोपाल को मधुपति इति अन्वय सौ गो गोपाल का मधुपति ये अन्वय होगा जदरा हृत प्राप्त वर्णीय रूप लीलादिना भाव विशेषाज भाव तो होगा विशेषस्य अनुच्चारण उच्चारण शक्ति श्री कृष्ण इति वाक्य से सुव्यय गो कह मधुपति चुकुज बेणु मधुपति मधुपति क्यों कह रहे हैं मधव जादवा सिर्फ सनातन गोस्वामी कहते मधुवंशी जादवों को कहते हैं और तेसम प्रति ईश्वर इति गोचारणाद्य संभवे अपनी गोचारणादिना भक्तवात्सल्यादि रूप विशेषण अभिप्राय श्री कृष्ण मधु मधुपति हैं मतलब जादवपति हैं क्षत्रिय हैं इसलिए उनके लिए गोचारण आदि करना उचित नहीं लेकिन भक्त वत्सल है इसलिए अपने पोजीशन को छोड़कर गाय चरा <laughs> यह एक अर्थ है अथवा मधु का अर्थ मादक रस विशेष तस्य पति स्वामी की मधु का अर्थ एक विशेष प्रकार एक रस विशेष मधु और उसके स्वामी है श्री कृष्ण जितने भी संसार में रस हैं सबके स्वामी श्री कृष्ण है इसलिए उनको रसपति या मधुपति का मधुपति और मधु का एक अर्थ होता है बसंत बसंत ऋतु के भी स्वामी श्री कृष्ण बसंत में जितने भी गुण होते हैं वे सब श्री कृष्ण में हैं तो जब बसंत के आने पर वन खिल जाता है तो बसंत पति के आने पर क्यों नहीं खिल जाएगा बिंदा प्रवेश करते ही वन लहलहा उठा बसंत के आने पर वन लहलहा उठता है वसंत पति के आने पर क्यों नहीं कहलाया श्लेष और मधुर शब्द से यह बात बताई जा रही है कि तदानी मदमत्व मदकत्व चूचित मधु का अर्थ होता है यहाँ है कि श्री कृष्ण स्वयं मत है आनंद में विभोर है परम सुखी है और अपनी लीला से दूसरों को भी मदमत्त कर रहे हैं इसके लिए मधु शब्द दिया मधुपति शब्द दिया गया नहीं तो और भी भगवान के बहुत नाम है ब्रजपति शब्द दे दिया जाता है या गोपीपति कुछ भी कि मधुपति शब्द देने का अर्थ है कि उस समय श्री कृष्ण अपने आप बहुत ही मदमत्त है आनंद में विभोर है कोई अंकुश नहीं है वृंदावन में कोई संकोच नहीं कुछ नहीं बांसुरी बजा रहे हैं गा रहे हैं नाच रहे हैं इसको मत कहते हैं और अपनी लीला द्वारा सबको आनंद विभोर कर रहे हैं तो तदानी मदमत्व मादकत्व च सूचित अवगाह्य अंत प्रवेश वनस सर्वतः प्रवेश न तत्व ज्ञानम ध्वनित वन में जहां तहाँ बांसुरी बजा रहे हैं इसलिए को तो इसके द्वारा अपना ज्ञान दे रहे हैं कि मैं यहां अवस्थित हूं और सबको सुखी कर रहे हैं तद्व्रजास्त्रिय आश्रित्य वेणुगीतम् स्मरोदयम् काश्चित् परोक्षम् कृष्णस्य स्वस्वखीभ्यन्वर्णयम् तत्र तत्र कृष्णस्य वेणुगीतम् श्रुत्वा काश्चित् गोप्यः स्वसखीभ्यो अन्ववर्णयन् तो श्री के वेणु गीत को सुनकर कुछ गोपियां काश्चित गोपियां कोई कोई गोपी अपनी सखियों से उसका वर्णन करने लगे तद वेणु गीतम का विशेषण है तद वेणुगीतम वह अद्भुत वेणुगीत आश्रुत्य आ का अर्थ होता है पूर्णतः स्पष्ट रूपेण श्रुत्य का अर्थ सुनकर स्पष्ट रूप से पूरा पूरा सुन करके गोपियां उस गीत का वर्णन करने लगे वह गीत कैसा था स्मरोदयम उस गीत से स्मर का उदय हो रहा था स्मर का अर्थ होता है एक स्मरण विशेष ऐसे लोक में यह रूढ़ अर्थ है स्मर का शब्द स्मर का अर्थ होता है कामदेव कामना लेकिन काम जहां उत्पन्न होता है तो काम में एक विशेष प्रकार का स्मरण होता है किसी का इसलिए स्मर स्मर शब्द कह दिया जाता है स्मर उदय हो, हो रहा था उस गीत से किसमें स्मर उदय हो रहा था इसको भी नहीं लिखा गया स्मरोदयम वेणु गीत इसलिए यहां श्रीपा सनातन गोस्वामी याद करते हैं तादृश जलादि दर्शन तस्व स्मरण कामेन गोपी स्मरण व जस वृंदावन के सुंदर जलाशय को पक्षियों को उस प्रकार की हवा को देखकर अनुभव करके श्री कृष्ण में स्मर का उदय हो रहा है एक विशेष प्रकार से श्री गोपियों का स्मरण होने लगा भगवान को चाहे कोयल की बोली सुनकर या कमल को देखकर श्री गोपी जनों का स्मरण होता है वैसे श्री कृष्ण को नित्य ही स्मरण रहता है गोपियों का लेकिन वृंदावन की के शोभा विशेष को देखने पर अधिक स्मरण होने लगा अथवा गोपियों के विषय में कहा जा रहा है कि उस गीत को सुनकर उनमें एक श्री कृष्ण का स्मरण विशेष जन्म लिया क्या स्मरण वही बांसुरी पर कैसे गाते हैं कैसे ग्रीवा लटकाते हैं पैरों को व्यत्यस्त रखते हैं विविध गीत गाते हैं तो उनकी सेवा करने की उनकी मिलने की लालसा उत्पन्न हुई इसको स्मरोदय कहा गया स्मरोदय तो कोई कोई गोपी अपनी सखियों से वर्णन करने लगी कहा परोक्षम कृष्ण से परोक्षम श्री कृष्ण के प्रति श्री गोपीजनों का नित्य ऐसा स्वभाव है नित्य ही श्री कृष्ण का स्मरण रहता है उन्हें लेकिन इस समय भाव विशेष की उत्पत्ति से वादन विशेषण तादृशत्म उत्तम श्री कृष्ण में एक विशेष भाव उत्पन्न हुआ वृंदावन की शोभा को देख करके और इसलिए वे बांसुरी इस दिन कुछ और ही ढंग से बजा रहे ये भाव उस गीत में वे श्री राधा आदि गोपियों का स्मरण कर रहे थे और एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह बांसुरी का गीत श्री कृष्ण की इच्छा से केवल ब्रज गोपियों को सुनाई पड़ रहा था और ब्रज शब्द है तो ब्रज से समझ लेना चाहिए जो मान्यवती हैं जैसे माँ जशोदा आदि वात्सल्यमयी गोपियां उन्हें वो सुनाई नहीं पड़ रहा था उन्हें वह गीत दूसरे रूप में सुनाई पड़ रहा था तो, और वह गीत सुन करके उनमें वात्सल्य भाव उत्पन्न हो रहा था गा रहे हैं एक गीत लेकिन वो दो रूप में सुनाई पड़ रहा है जो जैसा भाव वाला है उसको उसी रूप में सुनाई पड़ रहा है वृंदावन में जहां तहां श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं विशेष करके गिरिराज जी के पचड़ करके जमुना के किनारे बंसी बट पर तो इसके द्वारा श्री कृष्ण ब्रज के लोगों को अपनी सुखद सुखमय स्थिति को व्यक्त कर रहे हैं हमारे जशोदा को चिंता लगी रहती थी राधा रानी को चिंता होती थी गोपियों को कृष्ण कैसे होंगे कहाँ होंगे इधर से जब बांसुरी बजाते हैं गाते हैं तब तो उन्हें लगता हो तो आनंद में है गा रहा है बजा रहा है नाच रहा है इस तरह ब्रजस्त्रियों को सुखी करने के लिए भगवान बांसुरी बजा रहे थे स्त्री का क्या अर्थ है ब्रजे या स्त्रिय वर्तमानता ब्रज में जो स्त्रियां थी वे अथवा ब्रज की स्त्रियां ब्रजस्य स्त्रिय या ब्रज स्थिता स्त्रीय ब्रज स्त्रिय कृष्ण प्रेममयी गोपियां ब्रज की स्त्रियां कहते ही बस समझ लिया गया था तो कृष्ण के प्रति प्रेम से भरे हुई महाभावमय श्री गोपियां उस गीत को सुन करके और अपनी सखियों से वर्णन करने लगी वेणु गीत का क्या मतलब है वेणुना गानम वेणु के द्वारा गाया हुआ गीत वेणु में कृष्ण कुछ गा रहे हैं ये इसका यह अर्थ हुआ कुछ वर्णन कर रहे हैं उसको सुनकर तो वेणु में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का या अन्य गोपियों का कुछ वर्णन कर रहे हैं वृंदावन की शोभा देखकर तो वेणुना गानम वेणु में श्री कृष्ण का गाया हुआ गीत अथवा वेणु गीत वेणु का गीत अथवा वेणु ही कुछ गा रहा है उसका गीत वेणु में गाया गया गीत और वेणु का गाया गया गीत अब जो कुछ समझिए अथवा वेणु के विषय में ही कृष्ण कुछ गा रहे थे बांसुरी के विषय में ही कुछ गा रहे थे जो भी उसको वेणु गीत कहते हैं लेकिन वास्तविक इसका तात्पर्य है वेणु में गाया हुआ कृष्ण का गीत गोपियों ने जो कृष्ण और वेणु के विषय में कहा है वो वेणु गीत लेकिन वास्तविक वेणु गीत है बांसुरी में कृष्ण का गाया हुआ गीत कृष्ण बांसुरी में जो गा रहे हैं वो वेणु गीत है बांसुरी जो गा रही है वो वेणु गीत है और उसको सुन करके गोपियां वेणु के विषय में जो गा रही है वो वेणु गीत है और उन गोपियों के विषय में सुखदेव गोस्वामी जो गा रहे हैं वो भी वेणु गीत है और आज तक हम लोग भी जो कह रहे हैं वो भी वेणु गीत सब वेणु की थी लेकिन तत्वतः वेणु गीत असली है कृष्ण क्या गाया हुआ गीत बांसुरी में तो वह तो केवल गोपियां सुनी है शिल को समय बता नहीं रहे वो गीत क्या है इतना ही कहते हैं ब्रज की स्त्रियां उस गीत को सुनी जो गीत उनके कृष्ण मिलन की लालसा को बढ़ाने वाला है स्मरोदयम और उसको सुन करके कृष्ण के परोक्ष में ही अपने सखियों से ये वर्णन करने लगे अच्छा सखियों शब्द श्री काम चल सकता था लेकिन स्व सखी भ्यो नुवर्णन क्यों कहा स्व सखी अपनी सखी तो ब्रज में अनेक गोपियां हैं उनके अलग अलग युक्त हैं तो स्व सखी का अर्थ है अपनी अपनी प्राण सखियों से जैसे श्री राधा आदि गोपियां हैं तो वे ललिता आदि सखियों से कहने यह भाव अनु अवर्ण अनु का क्या अर्थ है अनु अवर्ण अनु का अर्थ है कि उधर गीत चलता था और उसके बाद ही फिर वर्णन करते थे गीत रुकता नहीं था कार थे निरम उधर बांसुरी का गीत चल रहा है और इधर पशु वर्णन करने लगे काल से भाव विशेष युक्ता श्री राधा देव्याद्या कृष्ण के प्रति विशेष भाव से युक्त श्री राधा गोपियां आपस में कहने लगे अपनी अपनी सखियों से कहने लगी कृष्ण का गीत इतना सुंदर है कि उसको बिना कहे रहा नहीं जा रहा है या उसके प्रभाव का वर्णन तो इसलिए कहने लगे कि सखी प्रति अथवा तादर्थे चतुर्थी अर्थात अपनी सखियों को सुख देने के लिए कहने लगे यह ताशम सुखार्थम इत्यर्थ सुख देने के लिए क्यों तासम सुखेना एवं आत्म सुख विशेष राधा आदि गोपियों का स्वभाव है कि अपनी सखी सुखी रहेगी तो वही हमारा सुख है तो उनको सुखी करने के सखियों को सुखी करने के लिए कृष्ण के वेणु गीत का वर्णन करने लगे अथवा स्वयं इतना सुखी है कि उसको उसका उद्रेक हो रहा है बिना कहे रह नहीं सकते इसलिए अपने सखियों से वर्णन करने लगे तद्वर्णयितुमारब्धा स्मरन्तः कृष्णचष्टितम् नाशकम् मन सो नृपा हे महाराज परीक्षित परीक्षित को संबोधन किया जा रहा है श्रील सुखदेव गोस्वामी स्वयं ही भाव विशेष में बह रहे अथवा महाराज परीक्षित भाव में डूब गए होंगे इसलिए उनको भाव संवरण के लिए संबोधन कर रहे हैं हे महाराज तद वर्णितुम आरब्ध कृष्ण के वेणु गीत का वर्णन करना में प्रारंभ की अपने अपने सखियों से परंतु कृष्ण चेष्टितम स्मरंत्य स्मर वेगेन विक्षिप्त मनस सत्य न अशकन समर्थ नहीं हो सके वर्णन करना चालू की तो वर्णन पूरा करना ही ठीक था लेकिन अभी चालू करने जा रहे थे तब तक कुछ नहीं कह पाई क्यों नहीं वर्णन कर पाई क्योंकि श्री कृष्ण की लीलाएं रूप उनका माधुर्य मन में ऐसा उदित हुआ कि वे बोल नहीं पाए कौन रूप मन में उदित हुआ उसी को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बरहा पीडम नटवर बकुह योग करने का इसलिए बोल नहीं सकते आरब्धा आरब्धवत्य इति अवश्यम आरब्ध परी समाप्ति अपेक्षित भाव जब प्रारंभ की थी वर्णन तो समाप्त करना चाहिए था तथापि न से तत्र हेतु स्मर से श्री कृष्ण स्मृति विशेष से तद विषय काम से सर्वचित्ता कश्य चेष्टितम श्री कृष्ण की चेष्टाएं लीलाएं याद आने लगी और खास करके तद वेणु वादनात्मकम अग्र वर्णीय हुआ श्री कृष्ण का वेणु वादन विशेष रूप से स्मरण आने लगा अथवा आगे जो कह रही हैं वो सब लीलाएं याद आने लगी तब तो अपने सखियों से वर्णन करने चली फिर भी नहीं कर पाई वर्णन करना प्रारंभ की पर वर्णन नहीं कर सकते ये व्यवस्था बहुत उत्साह से बड़े सुख के साथ कहना चालू की लेकिन कहने के पूर्व ही इतना स्मरण होने लगा कृष्ण के लीला का रूप का चाल हंसी बांसुरी बजाना के नहीं वर्णन कर सकते इस श्लोक का वर्णनीय विषय है कि न अशकन समर्थ नहीं हो सके क्यों नहीं समर्थ हो सके कृष्ण चेष्टितम का स्मरण कर रही थी इसलिए स्मर वेग से विक्षिप्त मन मन विक्षिप्त हो गया व्याकुल हो गया वाणी से और मन से डिस्कनेक्शन हो गया तो इसलिए नहीं बोल पाए इसने कहा कि सब चित्ताकर्षक सबके चित्त को आकर्षित कर लेते हैं तो इसलिए उन्हें कृष्ण कहा गया इस प्रकार कभी समय आए कि व्यक्ति भगवान के विषय में कुछ बोलना चाहे गाना चाहे और बाणी गदगद हो जाए रोमांच हो जाए न निकले कुछ भी तो वही पूर्ण कथा है बांसुरी बजाई रंग सोमुरारी बांसुरी बजाई जाइयाज रंग सामुरारी बांसुरी बजाइयाज सुनी कधोनी छूट गई शंकर की तारी सुन कदों में छूट गई बांसुरी बजाई आज रंग सामुरारी बांसुरी बजाई आज आज अद्भुत ढंग से मुरारी ने बांसुरी बजाया कि भगवान शिव के ध्यान का तार टूट गया वो ध्यान कर रहे थे बिल्कुल वृंदावन की तरफ चीत आ गया और ऐसे सुनने लगे और सारा विस्मरण हो गया केवल बांसुरी की आवाज सुनने लगे और उधर सत्यलोक में ब्रह्मा जी वेद पढ़ना भूल गए वेद पढ़ भूल गए ब्रह्म ब्रह्मचारी वेद पढ़न भूल गए और ब्रह्मचारी का मतलब सनकादी का दिन उनके बेटा भी सब भूल गए वेद पढ़न भूल गए ब्रह्मा ब्रह्मचारी रसना गुण कही न सके ऐसी सुधि दिशारी रसना गुण कही न सके ऐसी शुभ विशाली बांसुरी बजाली आज रंग समुरारी बांसुरी इंद्र सभा भक्त तो भई लगी जब करारी सभा उधर इंद्रदेव सभा में बैठे थे जहाँ अप्सराओं का नृत्य चल रहा था जो बांसुरी की ध्वनि फैली तो देवता सब स्तब्ध रह गए और रंभा जो नाच रही थी स्तंभित स्तंभित हो गए अब उसको कोई नहीं देख रहा था और उसका कौन नाच देखे वो स्वयं ही विभोर हो गए बांसुरी की तान सुनकर और करारी करते करारी चोट इंद्र सभा थकित भई लगी जब करारी इंद्र सभा को ब्रह्मा को मान मिच भूलि मृतकारी ब्रह्मा को मान मिच बांसुरी बजाई आज रंग सो मुरारी जमुना जो थकित भई नहीं सुधी संहारी जमुना जो थकित भई जमुना जो थकित भई नहीं सुधी संहारी जमुना मुरली है तीन लोक प्यारी बांसुरी बजाई आज रंग सामुरारी बांसुरी बजाई Shall किसकी किसकी क्या दशा है पहला प्रभात हुआ कि शंकर जी का ध्यान खंडित हो गया और ब्रह्मा जी जो अपने पुत्रों के साथ ऋषियों के साथ वेद पढ़ रहे थे सब विषय सब लोग केवल बांसुरी की ध्वनि सुनने लगे और इंद्रलोक में देवता आदि रंभा उर्वशी का नृत्य देख रहे थे बांसुरी की आवाज सुने पर सब स्तंभित हो गए और वो खड़ी की खड़ी रंभा बेचारी वो बांसुरी सुनने लगी <laughs> अब सब सन्नाटा छा गया जमुना जी बहना छोड़ दी बल्कि उल्टा बहने लगे ऊपर चलने लगे तीनों लोक में बांसुरी सबको बहुत प्यारी लगने लगी सब सारा काम धंधा छोड़कर बांसुरी की आवाज सुनने में मस्त हो गए कोई गोपी कह रही है अन्य सखियों से माई माई का अर्थ है तो सखी माई मोहन की मुरली में मोहिनी दशत है में मोहिनी बसत है मोहन की मुरली में अरे सखी मोहन की बांसुरी में कोई बहुत बड़ा सम्मोहन मंत्र है मोहिनी बस रहे जब ते सुनी श्रवण रहना पर भवन जब ते सुनि जब ते सुनि श्रवण रहन पर भवन जब ते सुनि श्रवण देहते ज्ञान अब निकसत है देहते मानव प्राण हे सखी जब से बांसुरी की ध्वनि सुनी है तब से अब घर में रहते बनता नहीं है लगता है कि देह छोड़कर प्राण चला जाएगा बांसुरी बजाने वाले के पास घर और देह दोनों छूट जाएगा कहा करो मेरी आली बसुरी की धुनी साली कहा करो मेरी आली साल रही है दुख दे रही है सूल की तरह चुभ गई हृदय कहा करो मेरी आली बांसुरी की धुन विशाली माता पिता बंधु अति प्रसत है माता पिता प्रतिबंधु अति क्या करूं बांसुरी ने ऐसी दशा कर दिया किसी काम लायक नहीं रहे और इधर माता पिता सास ससुर पति बंधु सब त्रास दे रहे हैं तुमको क्या हो गया तुम ठीक से काम नहीं करती हो इधर गुरुजनों का त्रास ये सब डांट रहे हैं मार रहे हैं और उधर बांसुरी पड़ी हुई है कहा कर कहा करो मेरी आली बांसुरी की धुनी शाली कहा करो मेरी माता पिता पति बंधु अति प्रसत है मदन अग्नि आरु विरा की ज्वाला जरी जल ही मीना तट धर सत जैसे जल एक तो मदन की आग कृष्ण से मिलने की लालसा और दूसरे तरफ विरह की ज्वाला कृष्ण की लालसा भी जला रही है और कृष्ण से भेंट नहीं हो रही वो विरह जला रहा है हमारी तो वो दशा है जैसे जल के किनारे तट पर मछली तड़प रही अति ही तपती छाती लागती है प्रेम काती अति ही तपती छाती लागती है प्रेम काती कांती का होता है तलवार खडग ये प्रेम की तलवार हृदय को काट रही है और फूलों की माला ऐसा लग रही है जैसे सांप है अति ही तपती छाती लागती है प्रेम कांति अति ही तपती छाती फूलन की माला मानो प्याल है दशक है फूलना की माला मानो फूलन की माला मानो डालो है दशक है खुलना की माला सुर श्याम मिलन को अतुर ब्रज की बाल सुर श्याम मिलन आतुरा ब्रज की बाल सुर श्याम आतुरा ब्रज की बाल एक एक पल जुग जुग जो खसत है एक एक पल कये कपल जुग जुग जो खसत है मोहन की मुरली में मोहिनी बसत है कली में मोहिनी बसत है कोई गोपी बांसुरी को खूब गाली दे रही है दूसरी सखी समझाती तो क्यों तुम्हें क्या हो गया बांसुरी ने क्या बिगाड़ा है बावरी कहा धोयब बांसुरी सो तुल बावरी तुम बांसुरी से क्यों झगड़ा कर रहे हो झगड़ा करना है तो कृष्ण से करो बांसुरी बेचारी क्या की है और राधा रानी कहती है हमारी सौत आ गई ऐसे वैसे जब से बांसुरी हाथ में लगी तब से हमको भूल गए ललिता जी समझाती हैं बावरी कहा धाया बासुरी सो तुल और एक भाव यह भी है कि तुम क्या बांसुरी से लड़ करके करोगी उसके पक्ष में कृष्ण है अब तुमको भूल चुके हैं छोड़ो लड़ाई नहीं सो प्रेम ने मैं तुम सो नहीं नयाली नहीं सो नहीं मैंने बंसी से बंसी ही उनका प्रेम नेम है कृष्ण का तुमसे अब नहीं रहा नहीं सो प्रेम नेम तुम सो नहीं नयाली नहीं सो प्रेम गिर धारी लाल ललया धरा धर गिर धारी लाल इसी से गिरधारी लाल जी ले लेकर के उसे अपने आधार पर रखते हैं अभी इससे नहीं समझ गई क्या लड़ रही हो बेकार अरे लड़ती तब जब जीत जाती बांसुरी से आप जीतने वाली नहीं है यत गिर धरी लाल लल आधर धर गिर धरी लाल जल मधु पीवती रहती काल जीवित है जल मधु જન્મ મધુ પીવતી રહતી તાલા જીવિત જન્મ મધુ ઘરી ઘરી પલ પલ છીન નહીં વિસરે ઘરી ઘરી પલ પલ છીન નહીં अरे बांसुरी ऐसी हो गई जब तक अधर पी रही है तभी तक ये जीवित है उसके बिना मर जाएगी तुम तो उसके बिना भी जी रही हो तुम्हारा वैसे भी प्रेम नहीं है ये तो मर जाएगी इसलिए पल पल छन हो नहीं बिसार है उसको सूरदास प्रभु को रस बस भय रहे सूरदास प्रभु दास प्रभु को रस बस भय रहे गुरदास सातवा की सरबरी कहो कौन धौकर सातवा की सरबरी सर्वरी का अर्थ समानता अब कौन है जो बांसुरी की समानता कर सकता है ताते तातेवा की सरवरी कहो कौन धोकर वा की बावरी कहा धयब बासुरी सतुल रे बावरी कहा धयब बासुरी बावरी कहने का आशा है कि तुम पागल हो गई हो अब आशा मत करो कि कृष्ण तुमसे प्रेम करेंगे बांसुरी बहुत आगे बढ़ गई उसके साथ लड़ाई शोभा नहीं दे रही मुरली बचन कहत जन प्राणा मुरली बचन कहत जन मुरली बचन कहत जन टोना मुरली बचन कहत जन टोना टोना माने जानते हैं सब लोग जादू टोना ये इसका वचन टोना जैसा हो रहा है होश उड़ जाता है कुछ सुधी नहीं रहती पागल हो जाता है तो। मुरली बचन कहत जन टोना मुरली बचन कहत जन टोना जल थल जीव बस करी ने जल थल जीवा जल थल जीव बस कर लीने जल थल विजय श्याम सलोना विजय श्याम सलोना मुरली वचन कहत जन को ना मुरली वचन कहत जन को ना मुरली वचन कहत जन को नाम मैं कय धरते करतन न्यारी मैं कय धरते श्री कृष्ण इसे अपने ओठ से दूर कभी नहीं करते मैं कय धरते करतन न्यारी मैं कय धर प्यारी तियनी लजौना प्यारी तियनी लजौना मुरली वचन कहत जन कोना मुरली वचन कहत जन कोना मुरली वचन कहत जन कोना मुरली वचन कहत ऐसी प्यारी बन गई कृष्ण की कि और अन्य सारी स्त्रियों को इसने लज्जित कर दिया इसके सामने कोई नहीं रही ऐसी ढीठ बदती नहीं काहू ऐसी ढीठ ऐसी ढीठ बन गई है कि किसी को कुछ नहीं गिनती है बदती का गिनना अर्थ तो किसी को कुछ नहीं समझती है ऐसी ढीठ बदती नहीं काहू ऐसी ढीठ रहत बनही बान जौना रहत बनही मान जौना बन बन कृष्ण के साथ जुक्त रहती है रहत बननी बान जौना रहत बननी बान जौना मुरली वचन कहत जन कोना मुरली वचन कहत जन कोना ताकि प्रभुता जात कही नहीं ताकि प्रभुता इसकी क्या प्रभुता कहे ऐसा न कभी पहले कोई हुआ है न होगा ताकि प्रभुता जाति कही नहीं जाति प्रभुता ऐसी भई न होना ऐसी भई न होना सूर श्याम मुद नाग प्रकाशती श्याम मुद नाग प्रकाशती सूर श्याम मुद नाग प्रकाशती सूर श्याम मुद थकित होत सुनी पौना थकित होत सुनी पौना मुरली बचन कहत जल पौना मुरली बचन कहत जल मुरली बचन कहत जन पौना मुरली बचन कहत जन पौना जल थल जीव बस करी ने सकल श्याम सलोना विजय श्याम सलोना मुरली बचन कहत जन कोना मुरली मुरली बचन कहत जन कोना मुरली बचन कहत जन कोना मुरली के उत्पात को देखकर और राधा रानी यह सखियों से कह रही कि सखी किसी भी तरह से मुरली को चुरा लो सखी रे मुरली ली चोर सखी सखी चोर सखी क्या बात है क्यों चुरा लिया जाए तो कहते हैं जिन गोपाल कि मैं अपने बस जिन गोपाल प्रीति सबन की तो सखीरी प्रीति सबन की तो सखीरी जय चोर सखीरी जिसने गोपाल को अपने बस में कर लिया है सबसे प्रेम तोड़वा दिया बांसुरी जब तक नहीं बजाते थे कृष्ण सबसे प्रेम करते थे छिन एक घर भीतर मिसी बासर छिन एक घर धरतन कद छो धरतन कद छो छोर कर कब अधरन कति कब कर कब हूँ खो सत जोर सखी सखी आपस में योजना बना रही कहाँ मुरली रहती है कहाँ से चुरावे राधा रानी कहते हैं एक क्षण भी वो नहीं छोड़ते हैं चुराने का एक उपाय है कि कभी गाय चराने में थक करके किसी कदम के नीचे सो जाए उसी समय चुरा लो कभी छोड़ते ही नहीं है छिनैक घर भीतर निशिवासक धरत न कबहू छोड़ कभी बांसुरी रखते नहीं है कबहू कर कभी हाथ में कबहू अधरन कभी कटी में कबहू खोसत जोर जोर में जो गाठ कपड़ा फेंट बांधे उसमें खोसते ना जाने कछु मेली मोहिनी ना जाने कछु राखे अंग अंग भोर राखे अंग अंग भोर सूरदास प्रभु को मन सजनी सूरदास प्रभु हो मन सजनी सूरदास प्रभु को मन सजनी सूरदास प्रभु बंधो राग की डोर सखी बंधो राग की डोर सखीरी मुरली सखीरी मुरली सखीरी पता नहीं कौन सी मोहिनी भर करके ये उनको अपने बस में कर ली है जब जब बजती है तो हमारा काम धंधा छूटता है गृह व्यवहार लोक मर्यादा नष्ट करती है और कृष्ण को भी पागल बना दिया है पता नहीं क्या मोहिनी है कि इसका साथ नहीं छोड़ पाते इसीलिए इसको चुराओ तो चुरा लिया एक दिन सूतल रहने कदम जोड़ सही कदम की इच्छा हमें सोए थे कृष्ण और राधा रानी अभी सखी आई और धीरे से चुरा लिया ऐसे सिर्फ सब जानते थे लेकिन जान बुझ कर आंख बंद किए थे और ले तो इधर उधर भटकने लगे खोजने लगे बांसुरी कहीं कदम की शाखा पर नहीं है कुंज में नहीं है इधर उधर तो जो रहे हैं लेकिन ये याद आ रहा है अपने सखाओं से कहने लगे कि मैं ले करके सोया था किसी ने लिया है तुम लोग लिए हो कौन लिया है तो किसी सखा ने कहा कि राधा आदि गोपियां इधर आई थी तो कृष्ण समझ गए बस बस उन्हीं लोगों की करामात तो राधा रानी के पास पहुंच गए कृष्ण अपनी बांसुरी मांग रहे हैं राधे श्री वृषभान दुलारी प्यारी बंसी दी जय राधे रस भान दुहारी प्यारी बंसी राधे श्री विषभान दुलारी प्यारी बंसी दी जय मो તારી બંસી જય રાધે બંસી જય તારી करते हुए कहते हैं या बंसी दिन चैनन पाओ या बंसी दिन या बंसी दिन चैनन पाओ या बंसी दिन बंसी दिन कैसे गाय चराऊ बंसी दिन कैसे गाय गौएं पूरे वन में बिखरी हैं तो बिना बांसुरी के कैसे बुलाऊंगा बहुत परेशानी बढ़ गई बंसी दिन कैसे गाय या के बल गिरिराज उठाऊं या के बल गिरिराज उठाऊं या के बल गिरिराज मैं इसी के बल से गोवर्धन उठाया था बांसुरी बजाने में मुझे पता नहीं चला कि हाथ पर पर्वत है तो शिव ब्रह्मा संकादिक भी इस बांसुरी का पार नहीं पा सकते हैं शिव ब्रह्मासन का दिखला को पार न पाए तो शिव ब्रह्मासन का दिखला को पार न पाए तो राधे संग संभाल बिहारी सारी बंसी श्री राधा रानी कहती है कैसी बंसी मैंने कभी भी देखा नहीं है कैसी बंसी कैसी बंसी श्याम की हारी कैसी बंसी कैसी बंसी श्याम तिहारी कैसी बंसी नैन निहारी हमने मैं तो अपने आप से कभी देखी नहीं हूँ कैसी कैसी और आधार ने जबकि ली थी उसके पास में हमने लेकन नैन निहारी हमने लेकन तुम छलिया हम भोरी भाई फली है इसीलिए दूसरों को चोर बना रहे हैं आप चोरी करते करते दूसरों को भी चोर बना रहे हम बहुत भोरे भारी हम सीधी हम कह के चोरी करने जाए किसी को तुम छलिया हम भोरी भारी तुम छलिया हम भोरी भारी हमको तो झूठा दोष लगा रहे हैं आप कहीं वन में भूल गई है जी जाकर खोजिए झूठो दोष लगा रे लाला कहा कि आप छलिया है हम लोग भोरी भारी हैं तो इस पर कृष्ण कहते हैं तुम सब चतुर सुघर ब्रजनारी तुम सब चतुर खूब चतुर हो तुम लोग मैं जानता हूँ तुम सब चतुर सुघर ब्रजनारी तुम सब चतुर में बंसी लई हमारी